NASA Langley research centre Virginia में मैंने अपने काम की शुरुआत की बाद में Goddard space flight centre Maryland चला गया मैं अपना इंप्रेशन अमेरिकन के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूं जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है हिंदुस्तानी तंजीमों में यहां की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं अपने से छोटों की जूनियर्स और सबॉर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हतक समझते हैं कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें उसूल और पाबंदी पाबंदी और सख्ती सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है बारीक है उसकी पहचान बहुत जरूरी है मैं जैसे ही नासा से लौटा फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाक हुआ 21 नवंबर सन उन्नीस वो साउंडिंग रॉकेट था नाम नाइकी अपैची नाइकी अपैची की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी आरजू अपने ख्वाब का इजहार किया एक Indian satellite launch vehicle ISLV का सपना हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब बीसवीं सदी में एक तरह से अठारहवीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है जो टीपू सुल्तान ने देखा था टीपू सुल्तान की फौज में सत्ताईस ब्रिगेड थे जो खुशून कहलाते थे और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का जो साथ रहा करता था और जुर्क्स कहलाता था जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट के सब सिस्टम्स बरामद किए 1799 में तिरुकन्नाहल्ली की जंग के बाद वो रॉकेट्स विलियम कांग्रीव ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए उसकी तकनीक समझने के लिए जिसे आज की साइंसी जबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं टीपू सुल्तान की मौत के साथ उस खाब की भी मौत हो गई कम से कम डेढ़ सौ साल के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्वाब एक बार फिर हिंदुस्तान में जिंदा हुआ प्रोफेसर सारा भाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेवारी अपने सर ले ली बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात पर कि इस मुल्क में जहां लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती वहां इन स्पेस उड़ानों को इन खलाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबालका नहीं था उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है शिरकत करनी है हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुद मुख्तारी सेल्फ रिलायंस अशद जरूरी है और उनका मकसद ताकत का मुजाहरा हरगिज नहीं था सहज पके सुमीठा होए थुम्बा में दो रॉकेट सहज पके मगर कामयाब हुए एक रोहनी दूसरा मैंने कहा अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर सारा भाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा एक मीटिंग थी और मीटिंग में group captain V S Narayanan से मेरा तारुफ कराया गया जो एयर हेडक्वार्टर्स से थे प्रोफेसर सारा भाई ने रेटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया rocket assisted take off system एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके बड़ी छोटी सी जगह में शाम तक यह खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद साख्ता मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूं जिम्मेदार हूं मैं कई तरह के जज्बात से भर गया खुश भी था शुक्रगुजार भी खुशकिस्मत भी और एक एहसास हुआ तकमील का फुलफिलमेंट का उन्नीसवीं सदी के एक शायर की ये सत्रें बहुत याद आई हर दिन के लिए तैयार रहो हर दिन को एक तरह ही मिलो जब ओखली हो बर्दाश्त करो जब दस्ता हो तो वार करो रेटो पे काम करते हुए दो अहम वाकयात हुए पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साल प्रोग्राम तैयार हुआ जिसके ऑथर थे प्रोफेसर भाई मेरे लिए वो एक ऐसा रोमानी मैनिफेस्टो था जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रोमानी नज्म हो जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना नारायणन और मैं हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे उस वक्त तक भविष्य की आने वाली S L V satellite launch vehicle का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था प्रोफेसर सारा भाई अपने देरीना खाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की चौथी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं यह मामूल था मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर सारा भाई को पूरी तफसील पूरी रिपोर्ट देता था दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर सारा भाई थुम्बा में एसएलवी का मुना करने गए हुए थे दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फ़ोन किया पैनल मीटिंग की तफसील बताई प्रोफेसर सारा भाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर सारा भाई नहीं रहे चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया मैं थर्रा के रह गया चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था प्रोफेसर सारा भाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए गगन